इब्राहिम ते ऐं इसहाक ते बरकत नाज़िल कईसूं ऐं ॿिन्ही जे औलाद मां के चङा आहिनि ऐं के पाण ते पधरो ज़ुल्म कंदड़ आहिनि